अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे मेरी जो वीडियोस अपलोड होती हैं उसमें क्या कमेंट्स आते हैं अब मैं आपको बता रहा हूं एक मछली की सोच बड़ी मछली आप उसको शार्क भी बोल सकते हो उसकी सोच और एक मेंढक की सोच में क्या फर्क है मेरी जब भी वीडियोस अपलोड होती है हर वीडियो में ऐसे पता नहीं कितने सारे कमेंट्स होते हैं सर आप एड ज्वाइन कर दो और वहां से जो पैसा आएगा वो डोनेट कर देना जैसे मेरे माइंड में तो कभी आइडिया आया ही नहीं मैं तो बेवकूफ हूं है ना ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं उसके लिए मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर दी इसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया उसके बाद भी खचरों को समझ नहीं आ रहा अब देखो आपको बताता हूं बड़ी सोच क्या होती है अगर करना ही होगा तो मैं ये छिछोरा काम क्यों करूंगा वहां से कितना आ जाएगा चार पांच लाख रुपए महीने का आएगा चार पांच लाख रुपए महीने में कितनों का भला हो जाएगा सौ का भला हो जाएगा और कितनों का हो जाएगा उसकी वजह से हर महीने के ऑन एन एवरेज दो करोड़ व्यूज होते हैं मेरे चैनल पे क्या उन करोड़ों का नुकसान नहीं हुआ बीच बीच में एड्स आती रहेंगी तो हो सकता है मैं कोई बहुत काम की बात कर रहा हूं बात कर रहा हूं लाखों रुपए की उसके बीच में दो कौड़ी की एड आ गई तो उस बात की क्या वैल्यू रह गई तो ये है मेंढकों की सोच अब देखो शाख की सोच क्या होती है अब ये सोच आप सबकी सोच से परे है वो जो प्राइवेट इक्विटी फंड के जो हेड थे उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आपसे मिलना चाहते हैं मैंने कहा आ जाओ जी बैठते हैं बात करते हैं मेरे ऊपर पूरी रिसर्च करके आए हुए इतनी रिसर्च इतनी आज तक मैंने खुद के ऊपर नहीं करी है मेरे बारे में मुझे ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बता दी जो मेरे लिए भी नहीं थी मैंने कहा अच्छा मैं ये कर रहा हूं अच्छा ये हो रहा है उन्होंने पूरी रिसर्च करी कि आपका यूट्यूब के ऊपर पचास करोड़ से ऊपर व्यूज हो चुके हैं फेसबुक के ऊपर भी एक करोड़ से ऊपर फॉलोअर्स हैं और वहां पर भी पचास करोड़ से ऊपर व्यूज हो चुके हैं और उन्होंने रिसर्च करी कि मेरे को सिर्फ वो लोग नहीं देखते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं मेरे को हर कोई देखता है बिजनेस वाले भी और जॉब वाले भी बड़े भी देख रहे हैं छोटे भी देख रहे हैं उनसे मीटिंग के बाद में मैंने भी इस चीज़ को वेरीफाई किया प्रैक्टिकली यूट्यूब में पीछे एनालिटिक्स होता है जहाँ से जा करके हम देख सकते हैं तो आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं मेरे को देखने वाले जो पच्चीस साल से नीचे हैं और आधे लोग ऐसे हैं जो पच्चीस से ऊपर हैं नहीं तो ज़्यादातर आप लोगों को देखोगे वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में होते हैं कुछ होते हैं उनको सिर्फ स्कूल कॉलेज के बच्चे देखते हैं कुछ होते हैं उनको सिर्फ बड़े बूढ़े देखते हैं मेरा सेगमेंट क्या है अक्रॉस डेमोग्राफिक्स बोलते हैं इसको अक्रॉस ऑल डेमोग्राफिक्स ये रीच है अब अगर इसको मोनिटाइज करना हो जैसे पैसा कमाना हो तो एक है छोटी सोच मेंढक की सोच वो क्या है सर एड्स ऑन कर दो महीने का चार पांच लाख रुपए आएगा ये वो वट अब देखो बड़ी सोच क्या है कैसे मोनिटाइज हो सकता है करोड़ों लोग हैं यहां पर अगर ये सारा कंटेंट जो अभी यूट्यूब पे फ्री में है अगर उसको वहां से हम निकाल लें या वहां पर वीडियोस हो भी तो छोटी छोटी हो दो दो तीन तीन मिनट की जो एक तरह की एड होगी ट्रेलर है कि ये फ्री में आपको मिल रहा है दो तीन मिनट की वीडियो अगर पूरी देखनी है बीस मिनट की आधा घंटे की तो यहां पर जाओ ये एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है जहां पर आपको सब्सक्राइब करना है सिर्फ निन्यानवे रुपए एक महीने का है जहां पर आपको अनलिमिटेड मेरी वीडियोस मिलेंगी और वहां पर मैं तेजी से अपना कंटेंट अपलोड करने लग जाऊं और सिर्फ मेरी ही नहीं और जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं इंडिया में जो पॉपुलर हैं उनकी भी हो इसको बोलते हैं फ्रीमियम मॉडल एक होता है फ्री मॉडल एक होता है प्रीमियम मॉडल इसको बोलते हैं प्रीमियम ये फ्री में पहले लत लगा दी पूरे हिंदुस्तान को एंड <laughs> में कहा कि भैया हमने तो आपका काट दिया है जैसे ड्रग्स नहीं है ड्रग्स yes, पहले तो दे दी फ्री में ले लो तुम भी लो तुम भी लो तुम भी लो प्लेट में सर्व कर दी उसके बाद में भाई इतने की मिलेगी लेना है ले नहीं लेना आगे बढ़ा अब तो लत लग गई है कई साल हो गए हैं आपको लत लगे हुए इतने पुराने पापी बैठे हैं यहाँ पे जो मेरे कई सालों से वीडियोस देख रहे हैं अरे अब देखो आपके साथ क्या होने वाला है ये है उन भाई साहब का प्लान और बड़ा तगड़ा प्लान है ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है कि अगर आज मैं डिसीजन लेता हूं कि मेरा सारा कंटेंट फेसबुक से यहां से वहां से सब जगह से निकल गया जो छोटी मोटी वीडियोस हैं एक तरह की एड्स हैं वो वहां पर हैं पूरी जो कंप्लीट वीडियोस हैं वो वहां पर है एक सब्सक्रिप्शन सर्विस अब चाहे उसकी हम ऐप बनाएं चाहे ऑनलाइन हम एक सब्सक्रिप्शन सर्विस बनाएं कुछ भी करें और वहां पर सिर्फ अकेले मेरी वीडियोज नहीं है मतलब एक मोटिवेशन की पूरी की पूरी दुनिया है इंस्पिरेशन की पूरी की पूरी दुनिया है जहां पर आप जाओगे एनर्जाइज हो जाओगे एक लाइफ चेंजिंग वर्ल्ड है ये मेरे वर्ड्स नहीं है उनके वर्ड्स लाइफ चेंजिंग वर्ल्ड कि इस दुनिया में अगर आप आओगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी अब अगर ये सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च होती है तो सारे तो नहीं लेंगे ये जो करोड़ों लोग हैं वो तो नहीं लेंगे कितने ले पाएंगे उसमें से कितने अफोर्ड कर पाएंगे मान लो दस लाख लोगों ने भी सौ रुपए महीने का दिया महीने का कितना हो गया दस करोड़ एक साल का कितना हो गया 120 करोड़ कम होता है क्या इसका मतलब मेरी कंपनी की वैल्यूएशन आज की डेट में हो गई एक हजार करोड़ की और उनकी तरफ से ऑफर था बिल्कुल clear for ten percent stake we are ready to give you hundred crore मतलब सौ करोड़ मुझे आज देने के लिए वो तैयार बैठे हैं मेरे को सिर्फ हाँ बोलना है मुझसे यह वर्ड निकलना है हाँ हाँ तो अब उसमें क्या हुआ मेरे पास में सौ करोड़ आ गया उस सौ करोड़ का क्या करेंगे कंटेंट तो मेरे पास में है ज़्यादातर क्या होता है पैसा आता है उससे कॉन्टेंट बनाया जाता है कॉन्टेंट तो बहुत है और थोड़ा बहुत ऐड करना है वो भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है फॉर एग्जाम्पल जो और मोटिवेशनल स्पीकर है उनको बोला अच्छा एक दिन का आप कितना चार्ज करते हो वो कहेंगे हम पांच लाख रुपए चार्ज करते हैं दस लाख रुपए चार्ज करते हैं हम आपको बीस लाख देंगे आ जाओ बीस बीस लाख रुपए अगर मैंने दस बंदों को भी दिया तो कितना आया दो करोड़। तो दो करोड़ ही तो लगा सौ करोड़ में से लेकिन उससे वैल्यू कितनी बढ़ गई इस ऐप की या इस सब्सक्रिप्शन सर्विस की कमाल की हो गई ना कंटेंट yes, में ज्यादा पैसा नहीं लगने वाला तो पैसा लगेगा कहां हम स्पोर्ट्स से टॉप पे जो भी लोग हैं अरे मैं नाम नहीं ले रहा यार कहा गुस्से चले जा रहे हो हाँ हाँ उनको पकड़ा उनको बोला आप कितना लेते हो एक एंडोर्समेंट का एक करोड़ लेते हो कोई नहीं हम आपको दो करोड़ देंगे तीन करोड़ देंगे पांच सौ सौ करोड़ है बहुत होता है तो ऐसे एक किसी को लिया क्रिकेट से एक लिया बैडमिंटन से उन्होंने आकर के क्या बोला कि मैंने जब से सब्सक्रिप्शन सर्विस ली है मेरी जिंदगी बदल गई है तो अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आइए यहां पर ये सब्सक्रिप्शन सर्विस लीजिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं या करती हूं अगर वो लोग बोलेंगे तो ये किस लेवल पे जाएगी गेम यानी वो जो सौ करोड़ आया हमारे पास में उसमें से दस करोड़ हमने लगा दिया कंटेंट क्रिएशन में जहां पे औरों से हमने टाइप कर लिया नब्बे करोड़ में हमने क्या किया एक बॉलीवुड से किसी को पकड़ा मेल को और एक फीमेल को वो भी आकर के यही बोल रहे हैं मतलब हो क्या रहा है इंडिया मतलब क्रिकेट बॉलीवुड समझ गए सब आकर के बोल रहे हैं कि जब से मैंने संदीप महेश्वरी को देखना शुरू किया है मेरी जिंदगी बदल गई है बदली या नहीं बदली उससे क्या फर्क पड़ता है बोलना ही बोलना ही तो है और बोल ही तो रहे हैं वो बोलने की तो पैसे ले रहे हैं वो कौन सा वो चीजें खाते हैं जिसकी वो ऐड कर रहे हैं तो ये भी कर देंगे उनका क्या जा रहा है उनको तो पैसे ही मिल रहा है जहां आप जा रहे हो यूट्यूब पे यहां हर तरफ उन्हीं के आपको चेहरे नजर आ रहे हैं और वो मेरे बारे में बोल रहे हैं सब्सक्राइब टू संदीप महेश्वरी देख पा रहे हो कितनी बड़ी रेवोल्यूशन क्रिएट हो रही है अच्छे अच्छे की हालत खराब हो जाएगी वो कहेंगे अच्छा ये भी इनको सुनते हैं ये भी ये भी सुनते अभी भी सारे हैं लेकिन बोलते नहीं है बोलने के पैसे लगते हैं दस करोड़ वहां गया बीस बीस करोड़ यहां गया बचा कितना सत्तर करोड़ और इस सत्तर करोड़ में से दस करोड़ हमने लगा दिया इस ऐप को बनाने में वेबसाइट और टॉप क्लास मतलब ऐसी ऐप जो देखे बंदा उसको मजा आ जाए उसमें कुछ फ्री की वीडियोस होंगी छोटी छोटी दो, दो तीन मिनट की पूरी चाहिए तो भैया ये सब्सक्रिप्शन लो हर एक एंड में यही आ जाएगा निन्यानवे रुपए दे दो निन्यानवे रुपए दे दो बाकी का जो पैसा बचा कितना बचा साठ करोड़ वो साठ करोड़ लगेगा एडवर्टाइजिंग में किसी मीडियम को नहीं छोड़ेंगे जो टीवी ऑन करोगे वहीं पे ये एड्स नजर आ रही हो मजा आएगा नहीं आएगा तो अभी जो मैंने फिगर बोली है वो कहां पहुंच जाएगी एक करोड़ लोगों ने सौ रुपए महीने का दिया तो महीने का कितना आया सौ करोड़ साल का कितना हुआ बारह सौ करोड़ ये है प्लान अगले दो साल के अंदर अंदर जब ये सब हो जाएगा तो कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हो गई किसी को आइडिया है वैल्यूएशन कैसे काम करती है मल्टीपल चलता है वहां अगर उसका मल्टीपल मैं ये भी लगाऊं मिनिमम ट्वेंटी भी लगा करके चलू तो हजार करोड़ का ट्वेंटी होता है बीस हजार करोड़ ये प्लान है अगले दो तीन साल के अंदर और यहां पे यहां पे खेल खत्म नहीं हो रहा है यहां से खेल असली शुरू होगा क्योंकि उसके बाद क्या किया जा सकता है उसके बाद मेरे नाम के प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं हर सेमिनार में एक ही क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है कि सर आपके जैसी एनर्जी कहां से आएगी ये बोतल आप देख रहे हो यहां से आएगी पांच सौ रुपए की बोतल है चार सौ रुपए मेरी जेब में जा रहा है लाखों बोतल बिक रही है वहां से अगेन करोड़ों रुपए आ रहा है तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ते बढ़ते बीस हजार करोड़ से कब एक लाख करोड़ पहुंच जाएगी पता भी नहीं लगेगा जहां इन्वेस्टर्स आ गए मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है वो दिमाग लगाएंगे उनका एक ही मकसद है कि भैया आज अगर मुझे सौ करोड़ दे रहे हैं तो कल उन्हें यहां से हजार करोड़ रुपए चाहिए वो कैसे मिलेगा उनको जब कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी और कोई बहुत मुश्किल नहीं है इसके लिए मुझे कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगानी है सब कुछ हो चुका है काम कॉन्टेंट है वीडियोज है यूजर बेस है तो I am currently in a position जहां पर जैसे मर्जी चाहूं वैसे इसको इनकैश कर सकता हूं और इस लेवल पे कर सकता हूं जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता है तो अरे आज क्या कभी नहीं करूंगा मेरे मरने के बाद भी ये नहीं होगा माई कमिटमेंट अपनी वसीयत में लिख करके जाऊंगा अपने बच्चों के लिए बेटा कुछ भी करना ये मत करना मेरे इस काम को मत छेड़ देना ये सब फ्री था फ्री है और फ्री ही रहेगा इसमें कोई मिलावट नहीं होगी धन्यवाद अब सवाल उठता है जब यहां से मुझे साफ नजर आ रहा है कि एक लाख करोड़ में कमा सकता हूं चलो एक लाख करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन हुई उसमें से तब स्टेक कम करते करते करते करते मेरे हाथ में दस परसेंट भी बचा दस हजार करोड़ आ गया अगले पांच साल में तो मैं क्यों नहीं कमा रहा दस हजार करोड़ देखो अगर मैं ये करता हूं तो वो लोग जो ये सौ रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते महीने का सौ रुपए सुनने में छोटा लग रहा है बट सौ इंटू बारह करते तो बारह सौ रुपए हो गया एक साल का ऐसे कितने लोग हैं इंडिया में जो ये बारह सौ रुपए अफोर्ड नहीं कर पाएंगे बहुत है जी उनका क्या वो तो गए देखो ध्यान से समझना मुझे क्या चाहिए मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए उसके लिए क्या चाहिए पैसा चाहिए तो मैंने एक कुआं ऑलरेडी खोद लिया है जो मेरा बिजनेस है छोटा है इतना बड़ा नहीं है लेकिन मुझे जितना चाहिए जितनी मेरी ज़रूरत है उतना मेरे पास में है तो ऐसे फुद्दू काम करने की क्या ज़रूरत है जब मेरे को चैन की नींद आ रही है तो अपनी नींद क्यों उड़ानी है इन चक्रों में क्यों इन इन्वेस्टर्स को अपने साथ में जोड़ना है जो सुबह से रात तक मेरे को गधों की तरह भगाने वाले हैं नहीं करेंगे नहीं करेंगे मैं कहूंगा कि नहीं ये नहीं करना है वो कहेंगे नहीं ये तो करना ही पड़ेगा हमने पैसा लगाया है सुनो तो सही हमारी समझ गए आज कुछ नहीं है मैंने ही जीरो से शुरू किया है आज जहां पर भी हूं मैं अकेला हूं कल अगर ये सब बंद भी हो गया तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे को सिर्फ बिजनेस करना नहीं आता है इन्वेस्टमेंट भी आती है पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है वो भी आता है वो एक अलग गेम है पूरी की पूरी वो फिर कभी किसी अलग सेशन में टच करूंगा पिछले वीडियो में जो पहला वाला पार्ट था उसमें मैंने तीन अलग अलग आइडियाज़ के बारे में डिस्कशन किया आगे भी जो आने वाले आठ पार्ट है उसमें डिटेल में आइडियाज़ के बारे में डिस्कशन होने वाला है आइडियाज़ इसलिए नहीं है कि आप उसको कॉपी करो या उन आइडियाज़ को ब्लाइंडली फॉलो करो तो आप बेवकूफ़ हो आइडियाज़ इसलिए है ये समझने के लिए कि सोचते कैसे हैं सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आप लोगों की क्या है जो अभी यहां पर बैठे हैं यंग मतलब क्या energy energy number one number two young मतलब क्या टेक्नोलॉजी की नॉलेज सोशल मीडिया की नॉलेज ऑनलाइन दुनिया की नॉलेज सुबह से रात तक करते क्या हो इंस्टाग्राम पे looking really sweet please reply please ये उन लोगों को पता है जिनकी एज है पचास साल साठ साल सत्तर साल ज़्यादातर आपके जो पेरेंट्स हैं वो उनको मोबाइल भी लेना होता है तो आपसे पूछते हैं उसमें कुछ <laughs> अटक जाता है तो आपके पास आते हैं तो इसका मतलब ऑलमोस्ट एक्सपर्ट नहीं हो गए टेक्नोलॉजी में तो क्या ऐसी आप कुछ फील्ड ढूंढ सकते हो जहां पर कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ गई है लेकिन लोग अभी भी वही पुराने टाइम में जी रहे हैं और आप इन दोनों चीजों को कनेक्ट कर पाओ ऐसी कितनी फील्ड्स है सुना मैंने क्या बोला है नहीं देखो आराम से सुनना कहते हैं इंसान के लिए तीन चीज़ें हैं जो सबसे ज़रूरी है रोटी कपड़ा मकान मकान की बात करते हैं किसी को घर चाहिए घर किसको चाहिए सबको चाहिए कोई ऐसा भी है जो कहता है नहीं मुझे घर नहीं चाहिए सबको चाहिए ये कितनी बड़ी मार्केट है बहुत बड़ी बहुत बड़ी मतलब कितनी अरबों खरबों की मार्केट है तो अब अगर इस मार्केट में क्या कुछ गैप नजर आ रहा है कुछ गड़बड़ नजर आ रही है आपको जिसको आप एंटर करके पूरा कर सकते हो और वहां से बहुत पैसा कमा सकते हो लीगली सही तरीके से बिना किसी टेंशन के बिना किसी स्ट्रेस के बिना किसी इन्वेस्टमेंट के देखना ध्यान से समझना एक प्रॉब्लम है लोगों को घर चाहिए अब किसी को घर चाहिए वो कैसे घर को ढूंढेगा ऑनलाइन आपने बोल दिया ऑनलाइन क्योंकि आपकी एज है yes, समझ गए आया ना एक बिजनेस आइडिया यहां से yes, यही अगर यहां पर अभी बैठे होते पचास साठ साल के लोग वो क्या कहते हैं पहले हम किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास में जाएंगे फिर वहां जा करके देखेंगे फिर उसमें से एक सिलेक्ट करेंगे आप क्या बोल रहे हो ऑनलाइन आधे लोग ऐसे होंगे स्पेशली जो यंग एज में होंगे वो पहले ऑनलाइन ढूंढेंगे बाद में ऑफलाइन जाएंगे जो एक पर्टिकुलर एज के हो सकता है वो ऑनलाइन के चक्रों में पड़े ही ना और सीधा ऑफलाइन चले जाए तो ये प्रॉब्लम है ना यहीं पर अपॉर्चुनिटी है प्रॉब्लम क्या है इंडिया में लोग जल्दी अडेप्ट नहीं करते हैं टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग यानी आप तो अडेप्ट कर गए क्योंकि आप लोगों की एज है क्या आपके पेरेंट्स ने अडेप्ट किया no, ना वो अभी भी बोलते हैं अरे सब में क्या पढ़ा है बड़ी धीरे धीरे अडेप्ट कर रहे हैं तो इंडिया में ऐसे कितने प्रॉपर्टी डीलर्स होंगे जो अभी तक ऑनलाइन वाले फंडे को समझ ही नहीं पा रहे होंगे या वो कह रहे होंगे काम चल तो रहा है क्या जरूरत है कितने होंगे ऐसे मैं कहता हूं आधे होंगे आधे मान लेते हैं क्या ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है आप आप अगर खुद अपना कोई ऑफिस ना खोलो अपना प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस ना खोलो ये जो हजारों ऑफिस खुले हुए हैं वहां पर जाओ और उन लोगों से टाइप कर लो अब आपको इसके लिए क्या चाहिए एक विजिटिंग कार्ड चाहिए सबसे पहले आप जाओगे उनसे बात करोगे तो कुछ चाहिए तो सही ना अपनी एक वेबसाइट चाहिए वेबसाइट बनाना मुश्किल है आसान है आज के टाइम में बेसिक सी वेबसाइट जो दो चार घंटे में तैयार हो जाती है तो उनके लिए आप एक रियल एस्टेट एजेंट बन गए ये लोग जो एजेंट्स होते हैं ये सब मिल करके काम करते हैं अकेला कोई काम नहीं करता इनका पूरा का पूरा नेटवर्क होता है तो इस नेटवर्क में आप घुस सकते हो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के मतलब इनके पास में ऑफलाइन कुछ आए और ऑनलाइन आप उसको प्लेस करते चले जाओ मतलब आपका काम क्या हो गया जो ये लोग कभी नहीं करेंगे कि एक प्रॉपर्टी आई बिकने के लिए मान लो पचास लाख रुपए का कोई घर है वो आया बिकने के लिए ये क्या करेंगे लिख लेंगे अब इनके पास अगर कोई आया तो उसको दिखाएंगे या अपने नेटवर्क में बता देंगे ऑफलाइन तो जो ऑफलाइन की दुनिया है वहां तो वो चीज फैल जाएगी ऑनलाइन वो है ही नहीं तो क्या ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है या नहीं है ऑफलाइन yes, आपने सबसे टाइप कर लिया है कि जो भी चीज आती है अब आप अलग क्या कर रहे हो औरों से जो और लोग नहीं कर रहे क्योंकि मैंने इन साइट्स को ऑब्जर्व किया है वहां पर क्या होता है ऐसा लगता है कि जबरदस्ती बस उठा करके किसी ने कुछ डाल दिया है प्रॉपर्टी के बारे में ना तो बहुत सारों में तो फोटोग्राफ्स ही नहीं होती है होती है तो एक आध फोटोग्राफ होती है वीडियो तो बहुत ही कम में होती है आपने क्या करा आपने कहा कि यार मैं कुछ ऐसा करूंगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे मतलब जो भी घर आया उसकी कम से कम बीस तीस आपने फोटोग्राफ्स खींची प्रॉपर हर एक एंगल से उसकी प्रॉपर वीडियो बनाई उसमें आपका जा क्या रहा है अपने मोबाइल से भी बना सकते हो आजकल तो मोबाइल ही एक से बढ़कर एक आ गए हैं मतलब कि ऑनलाइन जो बंदा आया उसको एक्सपीरियंस ऐसा हो रहा है कि मैं एक्चुअल में देख रहा हूं उसको उधर से उस बंदे ने आपको फोन किया अब यहां पर आपके ऊपर है आपका टाइप कैसे होता है इसमें यह भी हो सकता है कि जो बायर है उसकी कमीशन आपको मिलेगी मान लो एक परसेंट मिलता है और जो सेलर है उसकी कमीशन उसको मिलेगी जिससे आपका टाइप है जिस डीलर से टाइप है तो ऐसे अगर आपने सौ छोड़ो दस से भी टाइप कर लिया है एक एरिया में ऐसे दस ऑफलाइन डीलर जो ऑफलाइन तो है लेकिन ऑनलाइन नहीं है उन दस के पास में सौ सौ प्रॉपर्टीज है उसमें से मान लो दस दस एक्चुअल में ढंकी है जो बैंक से लोन इमीजिएटली हो जाएगा आपको पता है वो आपने बैंक से पहले ही कंफर्म कर लिया है तो अगर आपने सौ प्रॉपर्टीज भी लिस्ट करी तो इसमें आपका गया क्या क्या इन्वेस्टमेंट हुई तो अगर एक परसेंट आपको मिला एक परसेंट उसको मिला मान लो पचास लाख का घर बिका तो आपको कितना मिला पचास हजार रुपए और कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जैसे मैजिक ब्रिक्स है नाइनटी नाइन एकर्स है ऐसी काफी सारी वेबसाइट्स हैं वहां पर जाकर के उनका प्रीमियम प्लान आपने परचेस कर लिया जो डीलर्स के लिए होता है उसका जो बेसिक प्लान होगा उसमें भी लेवल्स होंगे प्लान के इतने रुपए इतने रुपए मान लो दस बीस हजार रुपए साल का प्लान है और दो महीने में एक कन्वर्जन भी हो गई इस तरह की और उस पर आपको आधा परसेंट कमीशन भी मिली मैं एक परसेंट भी हटा देता हूं तो पच्चीस हजार रुपए भी आया तो ब्रेक इवन नहीं हो गया दो महीने के अंदर तो क्या यह बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट का नहीं हो गया अब यहां पर गड़बड़ आप क्या कर सकते हो आप पहले ही इसको माइंड में बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे और कुछ बहुत बड़ा करने के बारे में सोचोगे और कभी करोगे ही नहीं ये बेवकूफी है वेबसाइट बनाने में पता लगा एक साल लग गया ऐसी ये सबसे बड़ी गलती है जो मैं आपको बता रहा हूं आप लोग हंस रहे हो लेकिन मैं बताता हूं जब भी कोई बिजनेस शुरू करता है सबसे बड़ी गलती बंदा क्या करता है अपनी वेबसाइट को बनाने में टाइम वेस्ट करता है जो भी आप वेबसाइट बनाने वाले हो अपनी उसको बनाने में एक दिन से ऊपर नहीं लगना चाहिए और खुद बनानी है और वेबसाइट बनाना आज की डेट में इतना आसान है जैसे एक ईमेल क्रिएट करना ईमेल क्रिएट करना आता है बस इतना ही आसान है वर्ड प्रेस पर जाकर के बना सकते हो और मजे की बात क्या है अभी जो घर परचेज करने की जो एज है वो शिफ्ट हो गई है पहले एक एज के बाद में जाकर के बंदा खरीदता था आज जल्दी खरीद रहे क्योंकि फाइनेंस हो जाता है तो वो भी पच्चीस तीस के हैं आप भी बीस पच्चीस साल के हो तो कनेक्ट नहीं कर जाओगे बड़ी जल्दी तो एक बहुत बड़ी यहां पर अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है अपर लिमिट क्या है यहां पर कोई नजर आ रही है अपर लिमिट अगर महीने के मैं कहता हूं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे पहले छोटी ट्रांजेक्शन करो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा तो क्या एक करोड़ का दो करोड़ का तीन करोड़ का घर ये नहीं बेच सकते तो मान लो अगर आपने दो करोड़ का घर बेचा और उसमें एक परसेंट आपको कमीशन मिली कितना हो गया दो लाख रुपए पूरे महीने में एक आध तो कर ही लोगे या नहीं कर पाओगे तो दो लाख रुपए महीना कम होता है क्या इसमें मुश्किल क्या है बहुत सारे आर्टिकल्स हैं नेट पे जो अवेलेबल है कि गूगल एड्स कैसे चलाते हैं अगर आपने महीने का हजार रुपए का अपना एडवर्टाइजिंग बजट बना भी लिया मान लो दो महीने में कितना लगा दो हजार रुपये लगा एक भी कन्वर्जन हुई वहां से बीस तीस हजार रुपये भी आ गया तो बुरा थोड़ी है ये जो खेल है ना ये सारा जो रियल एस्टेट का है इसको ध्यान से सुन लेना और समझ लेना मैं इसको समाप्त कर रहा हूं ये जो बिजनेस आइडिया है ये कब चलेगा और कब नहीं ये सारा खेल है ट्रस्ट का आप जाओगे घर लेने कैसे डिसीजन लोगे नंबर वन तो वो घर पसंद आना चाहिए कोई कितना भी बोलता रहे अगर आपको पसंद नहीं आया है तो आप नहीं लोगे अब वहां पर आपके ऊपर उसको कितना ट्रस्ट है वो रोल प्ले करेगा तभी तो आपकी बात सुनेगा वो ट्रस्ट कैसे एस्टैब्लिश होता है किसी पे भी ट्रस्ट कैसे होता है अरे सच बोल करके आपसे कोई झूठ बोलेगा उस पर आपको ट्रस्ट होगा या सच बोलेगा उस पर ट्रस्ट होगा तो सच बोल दो इसमें दिक्कत क्या है उसको सब कुछ सच सच बता दो सर देखो ये जो आप देख रहे हो इसका ये प्लस है ये माइनस है इसमें मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे पेपर्स में कुछ गड़बड़ है ये आपको और कोई नहीं बताएगा मैं बताऊंगा उसको सब कुछ बताओ ना जो भी काम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगे वहां पे हाथी मत डालो ना सामने वाले को फंसाओ समझ गए ना मेरी बात जैसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं इंडिया में चोर हैं तो ऐसे बिल्डर्स के साथ में जुड़ो ही मत जिनका मोटिव यही है कि पैसे इकट्ठे करने हैं क्योंकि उसमें आप भी मरोगे आपने तो किसी के पैसे लगवा दिए वो बिल्डर तो निकल लिया इंडिया के बाहर पैसे इकट्ठे करके आप वहीं के वहीं वो आकर के आपको पकड़ लेंगे समझ गए तो ऐसे काम करो ही मत साफ सुथरा काम करो शुरू से अपने फंडे क्लियर रखो ऑनेस्टी को अपना बेस बना लो और एक बंदे ने इस तरीके से आपके साथ में काम किया और उसको ये समझ आ गया कि ये बंदा प्रॉपरली काम करवाता है तो क्या वो आपको आगे रिकमेंड करेगा या नहीं करेगा आप हो तो रिकमेंड करोगे या नहीं करोगे इसको वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं जिस दिन ये रिकमेंडेशन शुरू हो गई अब समझ जाओ अब आप सही तरह से बिजनेस कर रहे हो अगर कोई बंदा आपसे काम तो करवा रहा है लेकिन आगे किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा है तो समझ जाओ आप गड़बड़ कर रहे हो लेकिन अगर वो रिकमेंड कर रहा है और एक को नहीं दो को नहीं चार को रिकमेंड कर रहा है वो आगे रिकमेंड कर रहे हैं वो आगे रिकमेंड कर रहे हैं कोई अपर लिमिट है ही नहीं आप कहां तक जा सकते हो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये लाखों के आप करोड़ों भी कमा सकते हो एक महीने का अगर ये बात हजम हो पा रही है लेकिन अभी वहां तक नहीं जाते लाखों तक ही रहते हैं महीने का लाख दो लाख रुपए तो आप कमा ही लोगे थैंक यू सो मच